तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे ओ जिज्ञासा समाधान के क्रम में एक प्रश्न है क्या व्याकरण आदि शास्त्रों को पढ़े बिना आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता है अध्यात्म में प्रगति के लिए शास्त्रों का अध्ययन आवश्यक है या नहीं है शास्त्रों में भी विशेषकर व्याकरण के ऊपर प्रश्न रहता है योग दर्शन उपनिषद वेद इनकी अध्यात्म में उपयोगिता बहुतों को समझ में आ जाती है कुछ ऐसे भी होते हैं जो शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं समझते अध्यात्म में पढ़ने के लिए जो चीजें आवश्यक हैं जो साधना करनी है वो वैसे भी पढ़ के सामान्य पुस्तकों को पढ़ के या उपदेश आदि सुन करके कर सकते हैं ये विचार बहुत से साधकों का रहता है गुरुकुल में पढ़ने वाले ब्रह्मचारियों को प्राय ये प्रश्न उठता है और विशेषकर उनको जो अध्यात्म से भी जुड़े रहते हैं ये प्रश्न इसलिए भी उठता है कि एक तरफ उन्हें व्याकरण का अध्ययन बहुत लंबा दिखाई देता है मेहनत भी बहुत होती है कष्ट भी लगता है तो उन्हें ये विचारने का अधिक अवसर मिलता है ये प्रश्न उनमें उठने की संभावना अधिक हो जाती है ये जो मैं पढ़ रहा हूं ये आवश्यक है या नहीं है और जो व्याकरण आदि के संपर्क में आते हैं गुरुकुलों के संपर्क में आते हैं वो देखते हैं कि यहाँ ये सब चीजें पढ़ाई जाती हैं लेकिन मैं तो अभी तक पढ़ा नहीं हूं इनको बड़ी अवस्था वालों के मन में भी ये प्रश्न उठता रहता है कि क्या मुझे भी ये सब पढ़ना आवश्यक है तब मुक्ति मिलेगी या आत्म साक्षात्कार होगा वो चाहते हैं आत्म साक्षात्कार हो योग में प्रगति हो वो सच्चे मन से चाहते हैं और प्रयत्नशील हैं उस प्रयत्न में वो व्याकरण आदि को भी देखने लगते हैं कि क्या ये भी मुझे करना चाहिए मेरे लिए आवश्यक है महर्षि दयानंद ने जो पाठ विधि लिखी उस पाठ विधि में व्याकरण भी लिखा हुआ है अन्य शास्त्र भी लिखे हैं तो महर्षि की पाठ विधि मुक्ति को प्राप्त कराने की दृष्टि से अभ्युदय निश्रेयस दोनों की दृष्टि से उनको जो श्रेष्ठ पाठ विधि दिखाई दी प्राचीन परंपरा के अनुरूप उसको उन्होंने प्रस्तुत किया इसे देख के भी मन में होता है कि भी जब महर्षि ने व्याकरण आदि को लिखा है पाठ विधि में और मैं नहीं पढ़ा हूं अथवा पढ़ रहा हूं तो इतना कष्ट हो रहा है क्या मुझे इनका पढ़ना आवश्यक है इस पृष्ठभूमि में इनका प्रश्न है क्या व्याकरण आदि शास्त्रों को पढ़े बिना आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता यदि संक्षेप से उत्तर हाँ या नाम है हो सकता है या नहीं हो सकता है इसमें अगर पूछा जाए तो उत्तर है इनके पढ़े बिना भी आत्म साक्षात्कार हो सकता है पर प्रश्न फिर आएगा फिर इनके पढ़ने की आवश्यकता क्या है इनकी उपयोगिता क्या है एक प्रश्न तो ये है कि क्या ये शास्त्र आत्म साक्षात्कार में सहायक होते हैं तो इसका उत्तर निश्चित आएगा कि हां सहायक होते हैं लेकिन यदि प्रश्न इस रूप में है जैसा इन्होंने लिखा क्या इनका पढ़ इनके पढ़े बिना आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता तो हो सकता है ये उत्तर आएगा दोनों बातों पे ध्यान देना मेरे दोनों वाक्यों पे जब मैं ये कह रहा हूं कि इनके पढ़े बिना भी आत्म साक्षात्कार हो सकता है तो उसका ये अर्थ नहीं कि ये व्यर्थ है ये अनावश्यक है ये तात्पर्य मेरे वाक्य का नहीं ले लेना बिल्कुल ऐसा मैं नहीं कहना चाहता हूं लेकिन यदि कोई कहे कि इनको पढ़ करके ही आत्म साक्षात्कार हो सकता है ही कोई लगाए दूसरे शब्दों में इन्हें पढ़े बिना आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता यदि कोई ऐसा कहता है तो उससे मैं सहमत नहीं हो पाता हूं ये भी एक विचार है बहुत से विद्वान बहुत से आचार्य इन्हें आवश्यक मानते हैं इसके बिना मुक्ति नहीं हो सकती इस प्रसंग में प्रश्न उत्तर शंकाएं समाधान बहुत होते रहते हैं तो प्रश्न उठता है उसमें एक कारण और दिखाई देता है लोगों को यदि ये माना जाए कि इनको पढ़ने पर ही आत्म साक्षात्कार होता है यानी ये आत्म साक्षात्कार में योग में गति के लिए आवश्यक है इनसे योग में गति मिलती है वृद्धि होती है तो वो अनेक ऐसे व्यक्तियों को भी देखते हैं जिन्होंने इन शास्त्रों को पढ़ा है लेकिन योग में रुचि नहीं योग में गति नहीं प्रश्न और शंका उठने में ये भी कारण बन जाता है वो देखते हैं कि यदि इनके पढ़ने से होता तो इनमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है इन व्यक्तियों में क्यों नहीं दिखाई दे रहा यदि होता तो सब में दिखना चाहिए था सब में वो लाभ आना चाहिए था ये भी एक तर्क उठता है मन में तो इनके बिना भी आत्म साक्षात्कार हो सकता है क्यों और कैसे ये चर्चा भी आगे करेंगे इसमें आप लोगों के जो प्रश्न होंगे उन पर भी विचार करेंगे लेकिन ये शास्त्र मुक्ति प्राप्ति में सहायक हैं आत्म साक्षात्कार होने में सहायक हैं दो बातें हो गई दोनों वचन बोल दो वाक्य हो गए अब तीसरा वाक्य बोल रहा हूं यदि एक ही व्यक्ति यानी समान सामर्थ्य हो इसलिए उसी व्यक्ति के लिए कह रहा हूं एक व्यक्ति अथवा समान सामर्थ्य वाले दो व्यक्ति अन्य परिस्थितियां भी समान हैं अनुकूल हैं या जितनी प्रतिकूल एक जैसा है सब कुछ खान पान रहन सहन सामर्थ्य अवस्था स्मृति समझने की क्षमता सब समान है उनमें से दोनों व्यक्ति साधना में प्रवृत्त हो रहे हैं साधना में भी लगे हुए हैं दोनों एक व्यक्ति व्याकरण पढ़ते हुए साधना में जा रहा है एक व्यक्ति केवल साधना में जा रहा है इन शास्त्रों को पढ़े बिना सामर्थ्य समान है समय भी समान है तो जो व्यक्ति व्याकरण और साधना दोनों को कर रहा है तो उसका कुछ समय पढ़ने में जाएगा कुछ समय साधना में जाएगा वो पूरा समय साधना में नहीं लगाएगा अन्य स्वाध्याय धार्मिक पुस्तकों की स्वाध्याय में पूरा समय नहीं लगाएगा वो व्याकरण आदि शास्त्रों में भी बराबर का या साधना से अधिक का समय लगाएगा और दूसरा व्यक्ति है ब्रह्मचारी है जो साधना में लगा है व्याकरण आदि में वो समय नहीं लगा रहा है पूरा समय साधना के लिए दे रहा है दोनों में से किसकी गति अधिक होगी तो प्रारंभ में क्या दिखाई देगा जो साधना में लगा हुआ है पूरी तरह से वो स्वाभाविक है साधना में आगे बढ़ेगा सामान्य स्वाध्याय तो वो भी करता है मान के चलिए सामान्य प्रवचन वो भी सुनता है स्वाध्याय में समय वो भी लगाएगा लेकिन व्याकरण आदि शास्त्रों में नहीं लगा रहा है वो तो कुछ समय साधना में लगाएगा कुछ समय स्वाध्याय में सेवा में इसमें लगाएगा स्वास्थ्य में दिनचर्या में इसमें समय दोनों का लग रहा है और यदि यहां भी हम ये समान विभाजन कर दें एक व्यक्ति साधना परक शास्त्रों को पुस्तकों को पढ़ रहा है अध्यात्म की पुस्तकों को उसमें वो चाहे उपनिषद भी पढ़ रहा है मनुस्मृति पढ़ रहा है वेद के मंत्रों का स्वाध्याय कर रहा है आदि अभिविनय आदि ग्रंथों का वैदिक विनय आदि ग्रंथों का स्वाध्याय कर रहा है लेकिन शास्त्रों को नहीं पढ़ रहा है गंभीर उसमें व्याकरण भी आ गया और दर्शन भी आ गया सामान्य रूप से योग दर्शन पढ़ लिया सांख्य का थोड़ा पढ़ लिया लेकिन जो शास्त्र का अध्ययन होता है पूरी तरह विधिवत वो नहीं कर रहा है अध्ययन के लिए समय दोनों समान लगा रहे हैं तो अध्यात्म में प्रगति किसकी ज्यादा होगी एक साल दो साल पांच साल दस साल मान लीजिए शास्त्रों को पढ़ने में लगाए आठ साल लगाए तो अभी क्या दिखाई देगा जो साधना में लगा हुआ है और तत्संबंधी स्वाध्याय कर रहा है उसकी गति आपको अधिक दिखाई देगी उपलब्धि अध्यात्म में प्रगति किस किसकी दिखाई देगी जो साधना संबंधी पुस्तकों को पढ़ रहा है अध्यात्म की पुस्तकों को पढ़ रहा है उसमें दिखाई देगी और चूंकि कोई व्यक्ति यही देखना चाहता है कि मेरी अध्यात्म में प्रगति कैसे हो तो इस मार्ग को चुन लेता है यहां यह भी समानता रखना कि अध्यात्म में रुचि दोनों की समान है तब तुलना होगी कि शास्त्र का कहां अंतर पड़ता है हमारा लक्ष्य क्या है ये समझना कि व्याकरण आदि शास्त्रों का क्या महत्व है उनकी अध्यात्म में उपयोगिता है या नहीं है इसका परीक्षण कर रहे हैं यदि उन दो व्यक्तियों में जिनमें और चीजें तो हमने समान ले ली लेकिन अध्यात्म में रुचि न्यूनाधिक कर दी कि जो व्याकरण पढ़ रहा है उसमें अध्यात्म की रुचि कम है और जो आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ रहा है और साधना में लगा हुआ है उसकी अध्यात्म में रुचि अधिक है तब तो अंतर आएगा ही क्योंकि वो अध्यात्म में रुचि अधिक रख रहा है इसकी अध्यात्म में रुचि ही कम है व्याकरण वाले की लेकिन हमें यदि निर्णय करना है निश्चय करना है तो अध्यात्म की रुचि भी दोनों की समान मान के चलिए अध्यात्म में रुचि भी समान मान के चलिए सब कुछ समान है केवल एक चीज का अंतर रखना है एक व्याकरण आदि शास्त्र पढ़ रहा है और एक अध्यात्म के सामान्य अन्य ग्रंथों को पढ़ रहा है सामान्य पढ़ने का समय भी समान है सब कुछ समान है निर्णय तभी होता है जब हम सब चीज बाकी सब चीजों को समान रखें यदि बाकी कई चीजों में हमने अंतर कर दिया तो निर्णय में जो भेद आ रहा है वो किस कारण से आ रहा है ये हम निर्णय नहीं कर सकते आज भी जितने अनुसंधान होते हैं उसमें सब चीजों को समान रखते हुए फिर एक चीज की भिन्नता करके देखा जाता है कि इसका क्या प्रभाव आ रहा है समान तापमान समान दाब समान समय समान क्षमताएं रोगों पर है तो समान रोग सब चीजें समान रखी जाती है फिर एक में भेद करके फिर देखा जाता है तब ठीक निर्णय पे पहुंचते हैं नहीं तो गड़बड़ हो जाती है कई चीजें बदल गई तो गड़बड़ हो जाता है इसलिए अध्यात्म में रुचि भी दोनों की समान है तभी तो तुलना होगी तो ऐसे व्यक्ति भी जब दो साल पांच साल चलते रहते हैं तो प्रारंभ में गति अध्यात्म में प्रगति उस व्यक्ति की अधिक दिखाई देगी जो केवल साधना और अध्यात्म के ग्रंथों को पढ़ रहा है और जो व्याकरण में समय लगा रहा है उसकी अध्यात्म में गति कम दिखाई देगी दिखाई नहीं देगी होगी भी कम दिखाई देगी का मतलब होगी भी कम लेकिन आगे पांच साल आठ साल दस साल पंद्रह वर्ष जो शास्त्रों का क्रम है उसको यदि उसने पार कर लिया तो पार करते करते और उसके बाद में जब अब प्रगति होगी शास्त्रों को पढ़ने के बाद क्या करेगा ये अध्यात्म में रुचि वाला अध्यात्म के शास्त्रों को पढ़ेगा ना अब अध्यात्म के शास्त्र कौन से हैं मोक्ष शास्त्र कौन से हैं दर्शन है उपनिषद है वेद है इनको पढ़ेगा ना वो ये अध्यात्म वाला भी पढ़ेगा और जिसने शास्त्रों को पढ़ा है वो भी पढ़ेगा दोनों को ही पढ़ने हैं वो तो बिना ठीक जाने अध्यात्म में प्रगति नहीं हो सकती ये सर्वमान्य है ज्ञान तो ठीक होना चाहिए एक व्यक्ति कहता है कि लोगों ने भाष्य कर रखे हैं इन मोक्ष शास्त्रों के उनको मैं पढ़ लेता हूं तो मुझे व्याकरण आदि पढ़ने की क्या आवश्यकता है और एक व्याकरण आदि शास्त्रों को भी पढ़ रहा है प्रारंभ में भिन्नता होते हुए भी आगे चल करके दोनों का भेद कम होता चला जाएगा प्रारंभ में अध्यात्म की रुचि अध्यात्म में ही चलने वाला अध्यात्म में अधिक प्रगति दिखाएगा प्रगति होगी उसकी लेकिन आगे चलते चलते चलते ये पीछे जो पहले धीरे धीरे चल रहा था वो ये भी बहुत आगे निकल गया लेकिन आगे चल करके ये उसके बराबर आके और उससे आगे जाएगा तेजी से जाएगा उसका कारण ये है पहली बात तो इन शास्त्रों को पढ़ते हुए हमारी बुद्धि परिष्कृत हो जाती है बुद्धि को इस तरह से विकसित किया जाता है इन शास्त्रों को पढ़ने से ये शास्त्र कर देते हैं इनको जो भी पढ़ेगा उसकी बुद्धि परिष्कृत होगी समान योग्यता वाले दो व्यक्ति एक इन्हीं इन शास्त्रों को पढ़ जाएगा और एक इन शास्त्रों को नहीं पढ़ेगा दोनों में बहुत अंतर दिखेगा कुछ वर्षों के बाद में दो तीन वर्षों में ही अंतर दिखने लग जाएगा और पांच दस पंद्रह बीस वर्ष यदि भिन्नता रह गई एक शास्त्रों को पढ़ता चला गया और दूसरे ने शास्त्र नहीं पढ़े वैसे स्वाध्याय आदि करता रहा तो बुद्धि के स्तर में बहुत अंतर हो जाएगा तो पहली बात तो ये शास्त्र हमारी बुद्धि को मुक्ति पे पहुंचाने के अनुरूप बनाते हैं उसमें वो क्षमता विकसित करते हैं विवेक की प्राप्ति इतना आसान नहीं है बिना विवेक के वैराग्य नहीं होने वाला है आत्म साक्षात्कार का मार्ग मुक्ति का मार्ग भी विधि भी समझ करके ही की जाती है और ये विधि कोई सामान्य कोई छोटा मोटा नुस्खा नहीं है उसमें सैकड़ों बातें जुड़ी हुई हैं छोटी मोटी छोटे मोटे सैकड़ों व्यवहार जुड़े हुए हैं वो कैसा वो कैसा दिखने में मोटे तौर पे हम कहें भी राग और द्वेष हट गया तो आत्म साक्षात्कार हो जाएगा ठीक है लेकिन राग और द्वेष कितने प्रकार से होता है कहां कहां उठ जाता है इस व्यवहार में मेरा राग है या नहीं है द्वेष है या नहीं है इनको जो पकड़ना है उसके लिए बुद्धि की विशेष क्षमता चाहिए जो व्यक्ति अपने राग द्वेष को अपनी अविद्या को जितनी अधिक सूक्ष्मता से पकड़ लेगा वो उतनी जल्दी उसको हटा भी सकता है और जिसने उनको पकड़ा ही नहीं है वो क्या हटाएगा क्या उसको समझ में ही नहीं आएगा कि यहां राग भी है मेरा उसे समझ में ही नहीं आएगा कि यहां मेरा द्वेष भी है वो ये कहता हुआ मिलेगा मेरा तो राग द्वेष समाप्त हो गया है है ही नहीं राग कैसा कैसा होता है कहां कहां हो जाता है द्वेष कैसा कैसा होता है कर्म कौन सा उचित है कौन सा अनुचित है उचित है तो क्यों है अनुचित है तो क्यों है ये बहुत सूक्ष्म विवेचना है इसकी सामान्यतः हम जो कर्म और कर्मफल की बात करते हैं वो बहुत स्थूल स्तर की है वो मोटे मोटे सिद्धांतों को केवल हम समझते हैं इनका जो प्रयोग है व्यवहार वो बहुत सूक्ष्म है एक एक वृत्ति को एक एक क्षण के विचार को भावना को जो पकड़ना होता है उसके लिए बुद्धि की विशेष क्षमता चाहिए तो इन शास्त्रों को पढ़ने से वो क्षमता विकसित होती है इसका ये भी अर्थ नहीं है कि जो भी इन शास्त्रों को पढ़ता है उसी में बुद्धि की क्षमता विकसित होती है यह अभिप्राय नहीं है अन्य भी शास्त्रों से हो सकती है और कुछ ऐसे व्यक्ति भी मिलेंगे जिन्होंने इन शास्त्रों को नहीं पढ़ा है किंतु जिन्होंने इन शास्त्रों को पढ़ा है उनसे अधिक क्षमता उनकी है इसी विषय में बौद्धिक क्षमता उनके अपने अपने कर्म है कर्माशय है वैसा वैसी बुद्धि मिली है पिछले जन्म के संस्कार हैं लेकिन समान क्षमता वाले दो व्यक्तियों को अगर देखेंगे तो एक कम योग्यता वाला है एक ने शास्त्र पढ़े एक ने शास्त्र नहीं पढ़े तो जिसने शास्त्र पढ़े उसकी योग्यता पर्याप्त अधिक मिलेगी और जो बिना शास्त्र पढ़े भी अच्छी योग्यता वाला है वो यदि शास्त्र पढ़ लेगा तो उसकी क्षमता और कहीं बढ़ी हुई होती है दो व्यक्तियों में ये देख करके कि एक ने शास्त्र व्याकरण आदि पढ़े हैं तो फिर भी इसकी क्षमता नहीं है और एक बिना पढ़े भी अधिक क्षमता वाला है ये निर्णय कभी नहीं निकाल लेना कि शास्त्र व्यर्थ है सब चीजें समान जिनकी हो वो उनमें इस केवल शास्त्र के पढ़ने न पढ़ने का भेद देखेंगे तो शास्त्र पढ़ा हुआ अधिक योग्य शत प्रतिशत मिलेगा उसकी योग्यता अधिक होगी ही तो शास्त्रों को पढ़ने से एक तो बुद्धि इस प्रकार से विकसित होती है कि वो इन सबको अच्छी तरह कर सकता है अन्य भी क्षेत्रों में और इस क्षेत्र में भी अध्यात्म के क्षेत्र में और दूसरी बात इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक प्रगति के लिए जिन शास्त्रों को हमें पढ़ना होता है जो अध्यात्म के शास्त्र हैं ईश्वर का आदेश है मंत्र है वेद के ऋषियों के उपदेश हैं उपनिषदों में और बहुत से गंभीर दर्शनों के सूत्र हैं श्लोक हैं मनुस्मृति के करने कर्तव्य अकर्तव्य आदि के उनकी सूक्ष्मता में शास्त्र पढ़ा हुआ व्यक्ति ही जा सकता है उनके अधिक गहरे तात्पर्यों को उनके पीछे छुपे हुए तात्पर्यों को उनके संकेतों को शास्त्र को पढ़ने वाला ही जान सकता है दूसरा व्यक्ति तो केवल भाव को पढ़ेगा जो किसी ने किया हुआ है नीचे शब्दार्थ को पढ़ेगा और सामान्य संस्कृत आती है तो बहुत थोड़ा सा जानेगा अर्थ तो कर लेगा गहराई में नहीं जा पाएगा इन शास्त्रों के वेद आदि आध्यात्मिक शास्त्रों की गहराई में जाने के लिए आत्मिक आध्यात्मिकता भी चाहिए अध्यात्म में रुचि भी चाहिए वो इसकी है जिसने शास्त्र पढ़ा है ये उससे रहित व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं उसको वहां पर विशिष्ट अर्थ दिखाई देंगे जो शास्त्र को पढ़ करके इनको पढ़ रहा है व्याकरण आदि को पढ़ के इन आध्यात्मिक शास्त्रों को पढ़ रहा है वो एक निश्चय को प्राप्त होता है दृढ़ता को प्राप्त होता है संशय नहीं रहता उसको हाँ ये बात ये कही गई है ये ठीक है और दूसरा व्यक्ति जिसने व्याकरण नहीं पढ़ा है वो अच्छी बातों को पढ़ भी लेगा लेकिन समाज में चूंकि भिन्न भिन्न मान्यताओं वाले व्यक्ति मिलेंगे ही अध्यात्म में भी जो जिनकी बातें वो पढ़ेगा उनमें भी भिन्नताएं मिलेंगी अलग अलग स्तर पर कहीं भी बात मिलेगी वहां उसको समझ नहीं आएगा ये ये ठीक है ये ठीक है वो फिर व्यक्ति पे आश्रित होकर के सत्य असत्य का निर्णय कहेगा नहीं इन्होंने कही है ये बड़े हैं तो इनकी बात ठीक है ठीक है या नहीं है उस पर वो नहीं जाएगा जो शास्त्रों को पढ़े बिना अध्यात्म में चलते हैं उनकी प्राय आप ये प्रवृत्ति देखेंगे वो वस्तुनिष्ठ होकर के विषयनिष्ठ होकर के अधिक नहीं सोचते हैं वो व्यक्तिनिष्ठ होकर के अधिक सोचते हैं वो ये कम देखते हैं कि सत्य क्या है शास्त्र क्या कह रहा है वेद क्या कह रहा है उस पर वो अधिक केंद्रित नहीं हो पाते पंक्ति क्या कह रही है ये सूत्र क्या कह रहा है इस पर वो अधिक केंद्रित नहीं हो पाते हैं तो गति भी नहीं होती है वो क्या देखते हैं अच्छा इसके ऊपर उन्होंने क्या कहा है इस पर उन्होंने क्या कहा है इसके बारे में उन्होंने क्या लिखा है ऐसे वो फिर दो तीन चार को देखेगा अब देख तो लिया निर्णय कैसे करेगा कि कौन सा ठीक है कसौटी क्या है तो या तो वो उसको स्वयं को जो लगता है नहीं मेरे को तो ये ठीक लग रहा है मान लेगा लेकिन ये कसौटी होते हुए भी कि मेरे को क्या ठीक लग रहा है ये सबसे निचली कट होती है कसौटी है वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मा मेरे को ये ठीक लग रहा है नहीं लग रहा है ये भी एक कसौटी है कब जब पहले तीन ना हो वेद उपलब्ध नहीं है कुछ पता नहीं लग रहा है वेद में इस विषय में क्या कहा है स्मृतियों का भी पता नहीं लग रहा है हमने पढ़ा भी है अथवा नहीं पढ़ा है महापुरुषों का कोई आचरण भी नहीं दिख रहा है इस विषय में कि सत्पुरुष महापुरुषों ने क्या किया है अब क्या करें यहां पर इसको उचित माने अनुचित माने जब प्रथम तीन नहीं होते तब ये स्वस्थ च प्रिय मात्मन लगता है ये सबसे निचली कसौटी है और इसमें त्रुटि होने की संभावना सबसे अधिक है क्योंकि जो व्यक्ति च प्रियम आत्मन देखेगा कि मेरे को क्या अच्छा लग रहा है वो अपने अपने ज्ञान के स्तर पर देखेगा सौ व्यक्ति यदि एक ही घटना को इस आधार पर तोलें मुझे क्या अच्छा लग रहा है तो निर्णय अलग अलग आएंगे भिन्नताएं होंगी विरुद्ध निर्णय भी आ सकते हैं तो जो शास्त्रों को पढ़े बिना इनकी तरफ जाता है अध्यात्म में प्रगति करता है वो जब भिन्न भिन्न लोगों के वाक्यों को देखता है तो वस्तुनिष्ठ न होके विषयनिष्ठ न होकर के शास्त्रनिष्ठ न होकर के वो व्यक्तिनिष्ठ सोचने लग जाता है वो कहता नहीं इनमें से जो ये बड़े विद्वान थे या ये बड़े विद्वान है ये आध्यात्मिक हैं या ये आध्यात्मिक हैं किसने ये कहा है और उस आधार पर वो निर्णय निकालता है कि नहीं ये बात इन्होंने कही है तो ये बड़े हैं ये अधिक साधक हैं इन्होंने ज्यादा ठीक कहा होगा तो ये मैं मान लू उनको कोई समझाने लगे कहीं मान लो बड़े ने भी कभी गलती कर दी हो तो कोई ये नहीं कहते वो कि नहीं ये क्यों गलत है या ये क्यों सही है ये कहने की उनकी स्थिति नहीं होती है वो सोच ही नहीं पाते तो क्या कहते हैं नहीं उन्होंने ये कहा है अब बातचीत में देखना बहुत जगह मिलेगा नहीं उन्होंने ये कहा है आपकी बात ठीक या किसी इनकी बात मैं क्यों ठीक मानू ये कह रहे हैं लेकिन वो तो ये कह रहे हैं इसलिए ये ठीक नहीं है क्या हेतु देते हैं वहां पर क्योंकि उन्होंने कहा है इनकी बात इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि ये व्यक्ति है ये इन्होंने कौन सी साधना की है ये कौन से विद्वान है अर्थात व्यक्ति निष्ठ निर्णय होने लग जाते हैं व्यक्ति निष्ठ निर्णय में त्रुटि की अधिक संभावना रहती है तत्व का ज्ञान सत्य का ज्ञान व्यक्ति निरपेक्ष प्रमाणों से जो सिद्ध होता है वो स्वीकार किया जाता है शब्द प्रमाण भी वाक्य का अर्थ भी मंत्र का अर्थ भी मनमाना नहीं कि कोई कहे मुझे ये लग रहा है मुझे ये लग रहा है मुझे प्रतीति ये हो रही है मेरी अनुभूति ये है मुझे इसमें ये अर्थ दिखाई दे रहा है ठीक है उसका अपना स्थान है लेकिन एक सीमित भाषा का अपना नियम होता है जिसने इस श्लोक को कहा जिसने इस मंत्र को कहा उसने किन नियमों को जानते हुए किस भाषा के नियम के अनुसार ये कहा है हमें उनको जानना होगा कहने वाले ने जिस भाषा का प्रयोग किया जिन नियमों के आधार पर वो बोला है जिस पृष्ठभूमि में वो बोला है भाषा भी एक पृष्ठभूमि है उस भाषा को हम समझते नहीं है उसकी आत्मा को नहीं समझते हैं भाषा की उसकी शैली को नहीं समझते हैं तो हम आज की अपनी भाषा या ज्ञान के आधार पर उसमें अर्थ देखने लगेंगे तो हम शास्त्र को अपना अर्थ देखने के लिए पढ़ रहे हैं या ईश्वर ने क्या कहा या ऋषियों ने कहा ये पढ़ देखने के लिए पढ़ रहे हैं अपना करना होता तो बिना शास्त्रों के भी पढ़ लेते हैं हम ठीक है हमारे मन में जो आ रहा है विचार हमारे लिए ठीक है दुनिया में सैकड़ों लोग ऐसे हैं सैकड़ों ऐसे मत संप्रदाय हैं तो अपना अपना जो उन्हें ठीक लगता है उसे ठीक मानते हैं बस बोलते हैं लोग भी स्वीकार करते हैं बहुत से शास्त्रों को हम पढ़ रहे हैं वेद को हम पढ़ रहे हैं ईश्वर की वाणी को पढ़ रहे हैं तो ईश्वर को जानने के लिए ईश्वर क्या कह रहा है ईश्वर का क्या तात्पर्य अधिक से अधिक ठीक हो सकता है ये हम जानना चाह रहे हैं तो उस भाषा को तो हमें जानना पड़ेगा नहीं तो त्रुटियां हो तो शास्त्र को पढ़ते पढ़ते प्रारंभ में जो मैं समान स्थिति बता रहा था समान योग्यता वाले जो अध्यात्म में जा रहा है वो प्रारंभ में अधिक बढ़ता हुआ दिखेगा दूसरा व्यक्ति ठहरा हुआ या कम गति करता हुआ दिखेगा लेकिन बाद में जब ये दूसरा चलना प्रारंभ करेगा तब ये पीछे छूट जाएगा ये शास्त्र का महत्व है इसे दूसरे उदाहरण से समझे लौकिक उदाहरण दे रहा हूं समुद्र को पार करना है उसके लिए पानी में उतरना पड़ेगा एक व्यक्ति ने कहा कि भाई हमने जितना जाना है उतना हमें व्यवहार में भी लाना है और हम तो तैरने के लिए उतरेंगे वो तो पानी में उतर गया और चलने लगा दूसरे ने कहा कि समुद्र पार करना है मुझे यो तैरने से नहीं होगा स्वयं हाथ चलाऊं मैं ऐसे नहीं होगा मुझे नाव बनानी पड़ेगी मुझे जहाज बनाना पड़ेगा अब वो किनारे पे ही खड़ा है अगर प्रारंभ में प्रगति देखें तो किसकी प्रगति दिखाई देगी तैरने वाले की जो उस दृष्टि से देख रहे हैं कि देखो समुद्र पार करना है और समुद्र में कौन गया वो तैर के जा रहा है तो कुछ तो दूर जाएगा ही वो तैरना सीखा उसने कुछ और जा रहा है दूसरा यहीं बैठा है अब समझने वाले समझ सकते हैं कि इसकी तो कोई गति नहीं है और उसकी गति हो रही है ठीक है यही दिखेगा की भी है उसने तालाब में गति की है समुद्र में गति की है लेकिन जिस दिन इसकी नौका तैयार हो जाएगी जिस दिन इसका जहाज तैयार हो जाएगा उसको देखो आप पूरे को तो ये नाव बनाने वाला जहाज बनाने वाला महीना दो महीना साल भर उसने इसमें लगा दिया तैयारी के लिए वो आगे बढ़ जाएगा एक व्यक्ति यात्रा के लिए निकला कि जाना है वहां पर और निकल पड़ा ऐसी चल पड़ा बस वैसे न यात्रा की तैयारी की कुछ यात्रा करनी है तत्काल चलना शुरू कर दिया जो होगा अब यात्रा में तरह तरह की बाधाएं आएंगी ये चाहिए वो चाहिए लेके तो चला नहीं दूसरे ने कुछ घंटे तैयारी में लगाए यात्रा की पूरा सोच के अच्छा यात्रा में ये चाहिएगा तो इसको भी जुटाया ये चाहिएगा ये भी जुटाया देखने वाले ये देख रहे हैं जो अज्ञानी है कि देखो ये तो यहीं खड़ा हुआ है और ये तो आगे जा रहा है देखो प्रगति कर रहा है ठीक है कुछ आगे बढ़ा है ये लेकिन उसको आगे क्या क्या बाधाएं आने वाली हैं ये भी नहीं पता है उसको बाधाएं तो आएंगी बाधाएं दोनों को समान आएंगी और दोनों को उसका समाधान करना है एक तैयारी करके चला है समाधान करता जाएगा जल्दी जल्दी निकल जाएगा दूसरा वहीं वहीं पर समाधान करेगा उसको देर लगेगी वो ढूंढेगा धन खर्च करेगा वो धीरे होगा उसकी गति धीमी होगी मकान बनाना है ऊंचा मकान बनाना है एक नींव बनाने में लग गया आजकल नींव बनाने में भी महीने लग जाते हैं बड़ी बड़ी जो भवन बनते हैं उसकी देखो आप कितना तो खोदते हैं कितना सीमेंट डालते हैं और सरिये इतने मोटे मोटे डालते हैं एक ने जमीन पर दीवार चिन्हनी उसी समय शुरू कर दी बिना नींव के कौन प्रगति कर रहा है देखने वाला कहेगा इसकी तो दीवार खड़ी हो रही है उसकी तो दीवार खड़ी ही नहीं हुई है ठीक है बढ़ाएगा वो दिखेगा झोपड़ी भी बना लेगा वो एक ईंट का मकान बना लेगा दो बना लेगा कितना जाएगा वो ऊपर कुछ कुछ समय बाद में प्रगति समाप्त अब वो और ऊंचा बढ़ाना चाहता है बढ़ा ही नहीं सकता वो करेगा तो गिरेगा और दूसरे ने पहले से सोच के देखा कि मेरे को यहां तक जाना है और उसके लिए जो तैयारी है उसको मैं भूमि बना रहा हूं नींव खोद रहा हूं भूमिका बना रहा हूं तो वो मकान को बहुत ऊंचे तक ले जाएगा दृढ़ बना सकता है ये दो तीन मैंने कुछ लौकिक उदाहरण भी रखे आपके सामने ऐसा ही इन शास्त्रों के साथ में भी प्रारंभ में इन शास्त्रों के पढ़ने में कठिनता प्रतीत होती है बहुत कष्ट होता है लंबा समय लगाना पड़ता है कांटे जैसे लगते हैं लेकिन इसका परिणाम अधिक अच्छा आता है और महर्षि दयानंद ने यही तो कहा है शास्त्रों के बारे में व्याकरण के लिए क्या कहा है महर्षि दयानंद ने जितना श्रम मेहनत व्याकरण में होती है उतनी और शास्त्रों में नहीं होती ये तथ्य है उनको भी पता था और हमें भी यही अनुभव होता है पर अगला वाक्य क्या कहा उन्होंने लेकिन जितना लाभ व्याकरण के पढ़ने से होता है उतना लाभ दूसरों से नहीं होता मेहनत तो बहुत होती है लेकिन यदि कोई इसका उपयोग करे अध्यात्म में रुचि हो और इसका ठीक ठीक उपयोग कर ले तो बहुत आगे चला जाएगा वो दूसरा सोच तक नहीं सकता कि ये कहां तक जा सकता है कल्पना तक में नहीं आएगा उसके जो पहले आध्यात्मिक व्यक्ति था और व्याकरण आदि को नहीं पढ़ा था वो सोच तक नहीं सकता कि इन शास्त्रों को पढ़ के कितनी गंभीरता में जाया जा सकता है और इन सूत्रों के पीछे शास्त्रों के पीछे क्या क्या बातें छुपी हुई हैं वो ऊपर ऊपर से ही देखेगा ये जो शास्त्र हैं बड़े गंभीर हैं दर्शन ले लीजिए उपनिषद ले लीजिए वेद ले लीजिए बहुत गंभीर हैं ये दिखने में जो भी छोटे छोटे से लगते हैं लेकिन इनके पीछे की बातें बहुत ज्यादा होती हैं ऊपर ऊपर का अर्थ अलग होता है लेकिन उसके पीछे की बातें अगर हम देख पाए ऐसी हमारी बुद्धि की सामर्थ्य हो तो वहां बहुत सारी बातें मिलेंगी आपको ये भी देख रहा है ये तो यहां ये भी कह रहा है यहां तो ये भी बात आ रही है इससे तो ये भी सिद्ध हो रहा है ये बुद्धि शास्त्रों को पढ़ने से विकसित होती है तो जो इनका प्रश्न है क्या व्याकरण आदि शास्त्रों को पढ़े बिना आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता तो पहला उत्तर हो सकता है लेकिन सबको नहीं हो सकता ये ध्यान रखना किसी किसी को हो सकता है जो पिछले जन्म से कोई ऐसे संस्कार लेके आया है जिसकी बुद्धि इतनी विकसित है उसको छोड़ दीजिए हो सकता है निषेध नहीं लेकिन किसी किसी को होगा ऐसी बुद्धि विकसित होती नहीं है सामान्यतः जैसी इन शास्त्रों के गूढ़ अर्थ को समझने के लिए चाहिए व्याकरण आदि शास्त्र पढ़ के भी सबकी नहीं हो पाती है ये भी सत्य है लेकिन जिसकी सामर्थ्य है जितनी सामर्थ्य है उससे कई गुना अधिक सामर्थ्य तो अवश्य बढ़ जाती है लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं कि बिना इनके बिना इनके पढ़े भी आत्म साक्षात्कार या मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है तो इनका पढ़ना व्यर्थ है ये भी बिल्कुल नहीं है बल्कि इनका पढ़ना मुक्ति प्राप्ति में सहायक है व्याकरण के का एक महाभाष्य से भी ऊपर का ग्रंथ है वाक्यपदीयम भर्तृहरि का जो कि व्याकरण के दर्शन को बताता है व्याकरण का भी दर्शन है इसके पीछे क्या है वो एक अलग सोच है भाषा शास्त्र उसकी सूक्ष्मता वो सूक्ष्मता है जो आज का भी भाषा विज्ञान नहीं पहुंच पाया है जो नोबल पुरस्कार विजेता हैं इस क्षेत्र के जो सबसे ऊंचे माने जाते हैं कि इन इस विषय में इनका कथन सबसे ऊंचा है आज भी जो है वो ये कहते हैं कि हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं जहां तक वाक्यपदियम और ये प्राचीन संस्कृत साहित्य भाषा के मूल रहस्यों को जो समझ सके हम नहीं पहुंच सके और वो पहुंच भी नहीं सकते कभी क्योंकि ये तो साक्षात वेद से आ रहा है ईश्वर से आ रहा है एक सर्वज्ञ की वाणी के द्वारा कही गई बातें यहां पर हैं कि मिथ्या कैसे हो सकती हैं हमारी अयोग्यता से हम ना समझ पाए गलत समझ लें वो भिन्न बात है वो सूक्ष्मता है जो देख पाए तो नहीं देख पाए तो कुछ भी नहीं है नहीं समझ पाए तो कुछ भी नहीं है तो यदि जिनमें भी क्षमता है अवस्था है समय है जिनके पास में जिन्हें अन्य धन संपत्ति ऐषणाओं की अधिक आवश्यकता नहीं है भागते नहीं है जिस इनके पीछे अन्य चीजें सताती नहीं है जिनको अन्य आकर्षण जिनको नहीं सताते रह सकते हैं टिक सकते हैं कहीं स्थान पे तपस्या कर सकते हैं दिनचर्या में चल सकते हैं आचार्य के निर्देशन में रह सकते हैं तो उन्हें इन शास्त्रों को अवश्य पढ़ लेना चाहिए जितनी शीघ्रता से जितनी अवस्था में पढ़ लें पढ़ लेना चाहिए हाँ इनको पढ़ करके भी जो उपयोग नहीं करता है अध्यात्म के लिए वो एक अलग बात है वो शास्त्रों का दोष नहीं है वो शास्त्रों का दोष नहीं है ये बात तो योग दर्शन पढ़े हुए में भी मिल जाएगी ये बात तो उपनिषद पढ़े हुए में भी मिल जाएगी कि उपनिषद पढ़ के भी आध्यात्मिक नहीं है व्यक्ति ये केवल व्याकरण के लिए नहीं है ये केवल दर्शनों के लिए नहीं है तो जिनकी भी सामर्थ्य है कर सकते हैं तो करना चाहिए जिनकी सामर्थ्य नहीं है तो वो अपने जीवन आचरण को अच्छा बनाएं, पवित्र कर्म करें शुभ कर्म करें जिससे अगले जन्म में अच्छी बुद्धि मिल सके अच्छे संस्कारित माता पिता के यहाँ पर जन्म हो सके बचपन से वो संस्कार मिले ऐसी बुद्धि विकसित हो ऐसी शिक्षा मिले उसके लिए तैयारी करनी चाहिए निराशा की कोई बात नहीं है आज जो बुद्धिमान है या अच्छे परिवार में पैदा हो गया है पीछे वो भी तो कैसा रहा होगा उसने भी तो ऐसी मेहनत की होगी कुछ एक दो तीन जन्मों पहले कोई बात नहीं हम आज कर रहे हैं

साधन के रूप में लिखे गए ये भाषा की सूक्ष्मता को जानने के लिए लिखे गए हैं और भाषा की सूक्ष्मता जानने से फिर वेद आदि शास्त्रों को अच्छी तरह से सूक्ष्मता से पढ़ सकेंगे ये प्रयोजन है उसका ये स्वयं अपने आप में अध्यात्म शास्त्र नहीं है वाक्य पदियम का जो मैं बोल रहा था उसका एक पंक्ति है उसकी एक पंक्ति है ए शाही मोक्ष माणा नाम अजिम्मा राज पद्धति यम सा मोक्ष माणा नाम अजिमा राज पद्धति व्याकरण के समर्थक होते हैं ये पर व्याकरण केवल व्याकरण से नहीं होता ये हमेशा ध्यान रखना है जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं उनके लिए ये जो है ना व्याकरण ये जो भाषा शास्त्र है ये राजपथ है और राजपथ भी कैसा सीधा सपाट बिल्कुल जैसे आजकल वाहन जा रहा हो और चार लाइन चार और छह फोर लेन या सिक्स लेन की गाड़ी हो एकदम ऐसे एक्सप्रेस वे जैसे आजकल होता है मुंबई से पुणे वाला प्रसिद्ध है जो भी कुछ नहीं बाधा चले जाओ बस चले जाओ ऐसी सुविधाएं नहीं तो कहीं बैल आएगा कहीं बकरी आएगी कोई गाड़ी आएगी फिर ब्रेक लगा ये रोकोगे कहीं गड्ढा आएगा ये सब बाधाएं तो होंगी ये राजपथ है हाँ, आगे सामने उपस्थित रह सके तो और अच्छा है नहीं तो भी उन गलियों में घूमने से उतनी ताकत तो आई जाएगी व्याकरण की वो गलिया जो है ना वो इधर उधर भटकाती दिखती है लेकिन वो ऐसी सामर्थ्य पैदा कर देगी दिमाग की नहीं सामान्य से क्या मतलब वो थोड़ा है वो थोड़ा है प्रथमा वृत्ति जिन्होंने बहुत अच्छी पढ़ी हो जिनकी बुद्धि बहुत अच्छी हो तो प्रथमा वृत्ति से भी बहुत हो जाता है किंतु प्राय वो हो नहीं पाता है शास्त्र खुलता नहीं है कि काशी का पढ़ते हैं महाभाष्य में जाकर के खुलता है उस समय तो लगेगा हाँ सब समझ लिया है लेकिन उसकी जो गहराइयां हैं जो दिमाग खोलने की बात मैं कह रहा था वो तो महाभाष्य में बहुत ज्यादा होती है तीन ग्रंथ सबसे ज्यादा लगते हैं मेरे को एक तो महाभाष्य एक न्याय दर्शन और एक मीमांसा दर्शन ये <laughs> तीन दिमाग को खोलने वाले समझ को बढ़ाने वाले एकदम परिवर्तन कर देने वाले दिमाग का ऐसे ये तीन ग्रंथ हैं और जो वहाँ पर जिसको साक्षात साधन हो रहे हैं तो उनको उनके लिए प्यास करते करते और जो आप बता रहे थे कि अध्यात्म का ज्ञान कितना आवश्यक है उसको प्राप्त करने के लिए जो उन्होंने व्याकरण पढ़ लिया और उसका भाष्य कर दिया उसकी सहायता ले ली जाए उतनी सहायता ले ली जाए जितना आवश्यक है जानना बाकी प्रयास उस पर किया जाए जो सीधे साधन है कर सकते हैं कर सकते हैं इसलिए मना नहीं है आप तो बहुत सारे शास्त्रों को आपने ले लिया महर्षि के ग्रंथों को ले लिया स्वाध्याय इन भाष्यों इन ग्रंथों के जिन्होंने भाष्य कर रखे हैं उनको आपने ले लिया बहुत है उससे भी कर सकते हैं मना नहीं है तो इनके बिना भी बोल रहा था मैं तो लेकिन इतना करेंगे तो भी हो सकता है निषेध नहीं है लेकिन शीघ्र अगर जाना है शीघ्र जाना है और अच्छी तरह जाना है तो ये सब आवश्यक होता है क्योंकि महर्षि दयानंद भी सारा नहीं लिख के गए दर्शनों के भाष्य महर्षि के नहीं है कुछ कुछ सूत्र के हैं कहीं कहीं हैं अन्यों के हैं वो भी संस्कृत में है फिर हिंदी के टीकाकार हैं हर व्यक्ति अपनी दृष्टि से लिखता है जैसा उसकी समझ बन पड़ी है विद्वान तो है लेकिन समझ अलग है आपको फिर वही समस्या आएगी कि ये ठीक है या वो ठीक है या वो ठीक है जो मैंने पहले बात रखी हाँ एक बात और भी कह देता हूं कि व्याकरण पढ़ने वालों में एक बहुत बड़ा दोष ये हो जाता है कि उनका अध्यात्म छूट जाता है ये भी उतना ही <laughs> उतना ही सच है व्याकरण वाले बहुत प्रसन्न हो रहे हो कि हम आगे बढ़ जाएंगे <laughs> अध्यात्म वालों से वास्तविकता ये है कि व्याकरण वाले पीछे रहते हैं अधिकांश व्याकरण वाले जो अध्यात्म में जाते हैं वो प्राय उनसे अच्छे मिलेंगे आपको जो व्याकरण में रहते हैं ये वास्तविकता है अधिकतर लोग लेकिन मैं जो आजकल हैं जैसे हैं उनकी दृष्टि से नहीं कह रहा हूं मैं शास्त्र की दृष्टि से कह रहा हूं इसलिए मैंने सारी तुलना पहले बराबर कर दी थी अध्यात्म में रुचि समान हो उसकी न्यूनता कर देंगे तब तो है ही नहीं तब तो वही व्यक्ति अच्छा है जो अध्यात्म में जा रहा है ठीक है लेकिन यदि आपकी रुचि है अध्यात्म में भी रुचि और फिर हम तुलना करेंगे तो निश्चित रूप से व्याकरण आदि से अधिक सहायता मिलेगी हम्म, और कुछ बचाएंगे तो कर सकते किया जा सकता है उसके के बिना और सहायता की आवश्यक जितनी लेकर और इन शास्त्रों को उसमें जो आवश्यक शास्त्र ग्रंथ उनको पढ़ते हुए बढ़ाया सकता है आगे बढ़ा जा सकता है पर आप जो कह रहे हो जितनी आवश्यकता हो उतनी सहायता ले आपको पता ही नहीं लगेगा कि कितनी आवश्यकता है सामान्य लगेगा बस आपको वो उधर से तो और आप आगे आगे चीजें एकदम पता लगती चली जाएंगी सामर्थ्य है समय है और अन्य कोई व्यसन नहीं है प्रचार का या और का पुत्रेष्णा लोकेष्णा धनेष्णा वित्तेष्णा ये सब नहीं है यदि ऐसी कृपा है परमात्मा की और आपने संस्कार ले रखे हैं तो इधर ही लगना चाहिए वो सब व्यर्थ हैं शास्त्रों को पढ़ो समझो और अपनी सामर्थ्य बुद्धि की विकसित करो और इसमें लगे रहो बस इस जो जो मार्गदर्शक है गुरु हैं उनके द्वारा प्राप्त नहीं हो सकते वो केवल ये बता सकते हैं ये ऐसा ऐसा है वो समझ में ही नहीं आएगा ये क्या कह रहे हैं नहीं होगी क्योंकि वो यम नियम को ही पूरी तरह नहीं समझ पाएगा यम नियम का दिख रहा है कि मैम इतना पालन कर रहे हैं उसकी सूक्ष्मता बहुत अधिक है मैंने शुरू में ही ये बात कही यम नियम का कोई भी एक चीज ले लीजिए उनकी सूक्ष्मताएं बहुत अधिक हैं उसको समझना पकड़ना उसके लिए जो बुद्धि चाहिए वो शास्त्रों से विकसित होती है ऐसे नहीं आ पाती है सबको तो उस ऊंचे स्तर पर यम नियम का पालन ही नहीं कर पाएगा वो ये सारी चीजें सारा योग बुद्धि मन के ऊपर निर्भर है जिसकी वो अच्छी है तो वो तेजी से गति कर जाएगा नहीं तो कम है तो कम गति से करेगा उसे पता ही नहीं लगेगा कि हिंसा क्या होती है और हिंसा कहते किसको है अब कोई इसमें चले जाते हैं कि किसी को भी मारना नहीं बिल्कुल भी ये अहिंसा है दूसरे लोग आक्रमण कर दें हमें तो कुछ करना नहीं है नहीं तो हिंसा हो जाएगी सब चौपट राज्य भी शासन भी अपनी धार्मिकता भी शरीर भी सब चौपट सब लुट जाएगा क्या करेगा वो क्या एक सिद्धांत के भेद से वो सिद्धांत क्यों नहीं क्योंकि वेदादि से भिन्न है शत्रुओं को नाश करना हिंसा है या अहिंसा है देखो कितना भेद है अन्यायकारी को मारना हिंसा है या अहिंसा है अंतर है कितना रात दिन का अंतर है ये तो प्रत्यक्ष भेद हमें दिखाई देते हैं मत संप्रदायों में ये तो एक बहुत मोटा उदाहरण दे रहा हूं सूक्ष्मताएं बहुत हैं जितना ज्यादा जो वेद को पढ़ेगा समझेगा उतनी सूक्ष्मता से वो जानेगा और ठीक निर्णय करेगा नहीं तो क्या कर्तव्य और अकर्तव्य में कवि लोग भी विमोहित हैं ये शास्त्रकार कह गए हैं बड़े बड़े लोग ये उचित अनुचित का निर्णय करना सामान्य नहीं है बड़े बड़े लोग इसमें मोहित हो जाते हैं उसके लिए फिर उतनी क्षमता चाहिए ना नहीं तो त्रुटियां होती रहेंगी चौथी दर्जे और उनमें से एक तो जमीन थोड़ी सी खोद करके दीवार खड़ी करना शुरू कर दिया एक ने तो साल भर दो साल भर लगा करके न्यू बनाने लगे तो इन दोनों की बुद्धि की क्षमता कैसे समान मानी जा सकती और दूसरा एक तरफ ये निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि शास्त्रों को पढ़े बिना चाहे कितने भी बुद्धिमान हो शास्त्र की गहराई तक नहीं जा सकता हरे ऊपर ऊपर का समझ लेगा तो शास्त्रों को पढ़े बिना भी मोक्ष हो सकता है ये कैसे कहा जा सकता देखो आपके प्रश्नों का <laughs> ये भी प्रश्न एक के एक देते जाते हैं यदि आप अपने प्रश्नों का अधिक अच्छा उत्तर चाहते हो तो इस चिंता को छोड़ करके कि मेरा प्रश्न छूट जाएगा प्रश्नों को स्मरण करके बाद में बोल दें लेकिन उत्तर देने वाले की भी सुविधा का ध्यान अगर रखें तो वो आपको अधिक अच्छा उत्तर दे पाएगा बोलो तो जो कोई एक अपवाद के रूप में किसी को बता रहे बता रहे हैं कि कोई कोई तो हो सकता है जिसके शास्त्रीय पर्यटन किसके संस्कार ऐसे हो कोई लक्षण बुद्धि हो वो तो आगे बढ़ सकता है तो वो एक अपवाद को लेकर के कैसे उसको नियम बनाया जा सकता है और वो अपवाद भी इन शास्त्रों को पढ़े बिना कभी ना कभी नहीं बन सकती है तो ये बात कैसे कर सकते हैं कि वो पढ़े बिना में आत्मसा सकता हो जाए हो सकता है तो पीछे से शुरू करूं मैं आपका अपवाद के आधार पे नियम नहीं बन सकता स्वीकार है आपकी बात और मैंने बनाया भी नहीं ऐसा मैंने कहा भी नहीं नियम नहीं बनाया कि इनके पढ़े बिना होगी ये नियम है ऐसा नहीं संभावना है लेकिन संभावना को मना कर दें ऐसा मुझे अभी के ज्ञान के स्तर पर नहीं लगता कि इसको बिल्कुल हम संभावना कर दें कि जा ही नहीं सकता ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता है गलत हो सकता हूं मैं दूसरा आपका कहना है कि जो आज अपवाद रूप है ऐसी बुद्धि क्षमता है कि बिना इन शास्त्रों को पढ़े भी जा रहा है तो उसने कभी ना कभी इन शास्त्रों को पढ़ा होगा तो ये कैसे कह सकते हैं कि बिना शास्त्र पढ़े भी जा सकता है आज नहीं पहले पढ़ा होगा तो मेरा वो अभिप्राय नहीं है उसने वो शास्त्र कभी भी नहीं पढ़े पहले भी नहीं पढ़े पुण्य कर्मों के कारण से उसने अच्छी बुद्धि प्राप्त की और सामान्य जो हम सुनते रहते हैं ज्ञान बचपन में माता पिता से बाद में गुरुजनों से और दूसरों को देख देख करके ही उसमें वो ज्ञान पैदा हो जाएगा बिना शास्त्र पढ़े और इसके प्रमाण के रूप में आप चाहें तो सांख्य दर्शन के वहां कुछ सूत्र हैं जहां पर सिद्धियां हैं हैं नहीं नहीं वहां पर वहां एक बात आई क्या गुरु मुख से इन शास्त्रों को पढ़ने से ही हो सकती है मुक्ति बोले नहीं बिना गुरु के पढ़े भी हो सकती है यानी शास्त्रों को सीधे पढ़ के भी हो सकती है तो बोले क्या बिना शास्त्रों के पढ़े नहीं हो सकती बोले नहीं हो सकती है इस संसार को देख करके भी हो सकती है विवेक की प्राप्ति पुस्तक नहीं पढ़ रहा है वो बुद्धि ऐसी है कि वो संसार में घटनाओं को देख रहा है बड़ी सूक्ष्मता से सुख दुख विवेचन क्यों कारण कार्य संबंध उसी विवेक को प्राप्त कर जाएगा वो बिना पुस्तक पढ़े तो बोले क्या शास्त्र इसको संसार को देखना जरूरी है बोला नहीं बिना संसार को देखे भी यदि बौद्धिक क्षमता ऐसी है तो एक जगह बैठा हुआ भी आंख बंद करके भी बुद्धि से ही इतना सोच लेगा विश्लेषण कर देगा थोड़ी सी कुछ देखेगा उसी से सारे निष्कर्ष निकाल लेगा वो उसको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है ज्यादा ये इधर तो घूमने की आवश्यकता नहीं है कि ये देखा वो देखा वो देखा थोड़े से से ही इतना वो सूचना ले लेगा और उसके विश्लेषण करके वो पीछे पीछे पीछे की बातें सब निकाल लेगा तो भी हो सकती है ये अपनी बौद्धिक क्षमता कर्माशय के अनुसार जैसी मिली है केवल ये नहीं है कि पिछले जन्म में वो जान चुका है इसलिए वो जल्दी जान रहा है उसकी बौद्धिक क्षमता ऐसी होती है तो वो निष्कर्ष निकाल लेता है दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य व्याकरण आदि से श्रव्य काव्य को हम अच्छी तरह पढ़ सकते हैं यद्यपि इनके पढ़ने के बाद में दृश्य काव्य को भी अच्छा देख सकते हैं वो तो सामर्थ्य होगी लेकिन इनका मुख्य प्रयोजन है श्रव्य काव्य को पढ़ना यानी शास्त्रों को सुविधा करना इसलिए जो अपवाद है उसने शास्त्र पढ़े ही होंगे ये अनिवार्यता मैंने प्रस्तुत नहीं की है इसलिए वो आक्षेप नहीं आएगा कि भाई उसने भी पहले पढ़ा है तो शास्त्रों को तो फिर भी पढ़ ही लिया इसलिए शास्त्र पढ़ना अनिवार्य होगा वो मेरे पक्ष में नहीं घटेगा बिना उसके भी वो कर सकता है ये मैं कह रहा हूं अब आप अपने जो प्रश्न आपने पहले बोले थे उनको मेरी सुविधा के लिए फिर से बोलिए उनको ठीक है उनकी क्षमता जो आप कह रहे हो बौद्धिक क्षमता स्मृति की क्षमता समझने की क्षमता शारीरिक स्थिति वो सब समान है ठीक है समझ में थोड़ा फेर है एक ने व्याकरण को उसने ये जान लिया कि व्याकरण पढ़ करके जाएंगे अथवा किसी ने कह दिया यही करो आप और वो लग गया उसमें दूसरे को यह कह दिया कि आप ये करो वो उधर लग गया क्षमताएं समान है अथवा तो थोड़ी सी समझ का भेद है वो इधर चला गया वो चला गया इसका तो भेद हमें रखना ही पड़ेगा रुचि का इतना सा तो भेद रखना ही पड़ेगा वो गया और आप इतना भी नहीं रखना चाहते हो तो समझ लो दो बच्चे थे वो एक वैयाकरण के पास पाले पड़ गया पल्ले पड़ गया और एक किसी योगी के पल्ले पड़ गया ऐसे उनकी कोई रुचि नहीं थी उनको कोई नहीं पता था वो तो छोटे बच्चे थे समान योग्यता थी और लेकिन वैसे आध्यात्मिक रुचि संस्कार दोनों के समान है तो अंत में जो परिणाम मिलेगा वो जो शास्त्रों को पढ़ के गया है उसका परिणाम अधिक मिलेगा ये मेरा प्रतिपादन है हाँ दूसरा प्रश्न क्या था तुम जी बोलो बताओ हम्म

देखो क्षमता तो बराबर है बुद्धि की क्षमता तो बराबर है लेकिन इतना ज्ञान तो भिन्न मानना ही पड़ेगा ना कि समझ का जो फेर है उसको ये पता है कि नींव गहरी खोदने में भले ही मेरे को अधिक समय लगे लेकिन कर लेनी चाहिए पर इसमें कई जगह ये भी कहते हैं मैं इनसे सोच रहा था शायद ये प्रश्न करेंगे कि एक साल नींव खोदने में लगाएगा तो धूप और पानी और उसमें तो परेशान रहेगा साल भर तक <laughs> इसने झोपड़ी तो बना ली धूप से कुछ तो बच गया राग द्वेश से लक्ष्य तो नहीं था लेकिन परेशान तो होगा ना ये <laughs> इस पे ओले भी पड़ सकते हैं धूप भी पड़ रही है बारिश भी हो रही है इसने झोपड़ी तो बना ली कम से कम इससे <laughs> कुछ तो बच गया तो उसके लिए उपाय ये कि जब बड़ी बिल्डिंग बनती हो वहां देखना वहां छोटी झोपड़ियां पहले से बनी हुई भी रहती हैं वो तो बना के रखेगा ही वो क्योंकि ये अध्यात्म में रुचि वाला है ये इतनी साधना तो कर ही रहा है केवल व्याकरण नहीं पढ़ रहा है केवल नींव खोदने में नहीं लगा है ये जो दृष्टांत था हमारा अध्यात्म में रुचि है ये भी साधना कर रहा है ये भी साधना कर रहा है ये व्याकरण भी पढ़ रहा है तो अपनी जो तात्कालिक हवा आदि और जो है हम बुराइयों में न फंस जाएं, नशे पते में न फंस जाएं, अन्य राग द्वेष में न फंस जाएं, इसकी सुरक्षा के लिए इतनी झोपड़ी तो है इसकी चल रही है तो इसलिए शास्त्र का महत्व तो, मुझे तो प्रतीत होता ही है और समय आपका वैसे बहुत हो गया लेकिन रुचि का आपका विषय था इस, इसलिए हम्म, और कोई नहीं है सत्यव्रत जी आपने भी हाथ खड़ा किया था नहीं है से तो करने के लिए और क्या तो ठीक है तो <laughs> होती है प्राणायाम से भी होती है देखो सुनो सुनो सुनो सुनो ठीक है आप वो जानते हो आपकी सूचनाओं की कमी नहीं है श्रुति जी ने आपकी पुष्टि भी की है आपको सूचनाएं <laughs> बहुत अच्छी हैं प्राणायाम गणित विज्ञान शतरंज तो ये अवैधिक कैसे है इससे शतरंज जो है चतुरंग नाम है उसका चतुरंग शतरंज तो आजकल प्रचलित है चैस चतुरंग नाम है और इस खेल का आविष्कार भारत में माना जाता है हैं? अच्छा विद्यानंद जी खेलते थे आपने जीवनी पढ़ी है चलो चीन का मान लो आप चीन या भारत ठीक है ऐतिहासिक दृष्टि से कुछ विवाद है लेकिन हमारे यहाँ प्राचीन काल से ये खेल रहा है नहीं इनका प्रश्न है कि वैदिक उपाय क्या है तो जो शास्त्रीय दृष्टि से है इसमें क्या होता है कि हर खेल में हर विद्या में अलग अलग क्षमताएं बढ़ती हैं अब गणित है गणित से भी बुद्धि की क्षमता अच्छी बढ़ती है उसमें तर्क शक्ति हमारी बढ़ती है बहुत ज्यादा संगतता बुद्धि की कि हाँ ये उचित है अनुचित है और विभिन्न प्रसंगों में गणनाएं शीघ्र करके हम शीघ्र निर्णय ले लेते हैं संभावना जो अज्ञात है उसको भी हम ज्ञात के आधार पर संभावित जो है वो निकाल लेते हैं ये क्षमता बढ़ती है लेकिन व्याकरण में इसके अतिरिक्त भी चीजें होती हैं और व्याकरण में हम सीधे उन शब्दों के साथ में खेल रहे होते हैं परिचित हो रहे होते हैं अभ्यस्त तो हो रहे होते हैं जिन शब्दों से हमें आगे पाला पड़ना है गणित में शतरंज में यूं तो बुद्धि बढ़ेगी लेकिन वो शब्द थोड़ा ना काम में ले रहे हैं हम जो आगे काम में आने वाले हैं एक तो वो कसरत है जो आगे की समस्या के लिए ताकत तो पैदा कर रही है हल करने के लिए लेकिन उन समस्याओं में गुजरना उससे नहीं आ रहा है ताकत तो बना थी वैसी और एक वही मेहनत की जा रही है उसी में घुमाया जा रहा है जिस जिस तरह की आगे जाना है हमें अब व्याकरण में ज्ञापक बहुत निकलते हैं लिखा कुछ है दूसरी ऐसी चीज जो वहां लिखी भी नहीं है लेकिन उस भिन्न लिखे हुए से ही पता लगा था कि नहीं इसका मतलब है कि ये ये कहना चाह रहा है ये वेदों में बहुत होता है सूत्रों में बहुत होता है यही क्यों लिखा इस, इसका मतलब है कि ये भी कहना चाहता है जिसने भाषा को अधिक गंभीरता से नहीं पढ़ा ज्ञापक की प्रक्रिया जिसे नहीं पता है वो नहीं निकाल सकता अर्थ गहराई में नहीं जा सकता वो जिसने संस्कृत भाषा रचनानुवाद कौम दी और इतने तक पढ़ी है वो केवल उतना ही अर्थ लेगा ज्ञापक नहीं आएगा दूसरी बात जो अनवय व्यतिरेक वाला बात अव्यपात है व्याकरण पूरा अन्वय व्यतिरेक पे केंद्रित है व्याकरण बना ही अन्वय व्यतिरेक से है इस धातु का इस प्रत्यय का यही अर्थ क्यों निकला ये अन्वय व्यतिरेक वाली जो घाटी है या उसमें कसरत है वो दूसरी जगह बहुत कम मिलेगी आपको गणित में कुछ मिलेगी विज्ञान में कुछ मिलेगी लेकिन वहां बहुत है अन्वय व्यतिरेक अन्वय व्यतिरेक व्यापक है अन्वय व्यतिरेक है वहां स्मरण भी कराया जाता है सूक्ष्म बात भी कह दी जाती है और ऐसी बात जो कि इतनी प्रच्छन्न होती है कि जो दिखती भी नहीं है हमें वो टीकाकार बताते नहीं इसका ये भी अर्थ है वहां ये कहा था इसलिए यहां पर ये यहां कुछ और है वहां दूर कहीं से लाएंगे सूत्र <laughs> वहां ये कहा था वहां ये कहा था उससे पता लगता है कि ये और यहां समाधान यहां निकाल रहे हैं बताओ इतनी दूर का उठा करके लाएंगे तो वेदादि शास्त्र और दर्शन में भी यहां कोई चीज पढ़ रहे हैं लेकिन वहां ये बात कही थी उसका प्रभाव यहां भी आ रहा है ये जो संगतियां लगाना इधर और उधर और दूर से ये व्याकरण में खूब होता है तो आप ऋषि प्रोक्त तो, तो व्याकरण है ही और वो नहीं है तो ठीक है अपनी सामान्य संस्कृत पढ़ करके अध्यात्म का अभ्यास करना है वो तो करना ही है इस व्याकरण के बिना भी इतना सारा हमारे पास में है करने को कि बिना व्याकरण आपको व्याकरण की कमी नहीं खलेगी व्याकरण के बिना भी जितना हमने ज्ञान लिया है या जितना आज उपलब्ध है व्याकरण पढ़े वालों ने और शास्त्र पढ़े वालों ने जो प्रस्तुत किया है वो इतना अधिक है कि हमारे जीवन के लिए तो आज इतना भी पर्याप्त है कर सकते हैं हम काफी कुछ कर सकते हैं चल सकते हैं इसलिए व्याकरण वाला पक्ष प्रबल हो रहा है तो मन में हीन भावना बिल्कुल नहीं लाना कि हम इसके नहीं कर पाए तो फिर तो व्यर्थ है हम कुछ नहीं कर पाएंगे ऐसा नहीं है इसलिए सबसे पहले ही मैंने कहा कि बिना व्याकरण के भी कर सकता है कोई वैसी रुचि होनी चाहिए वैसा परिश्रम होना चाहिए और ठीक है बिना व्याकरण के हम कछुए की चाल चलेंगे लेकिन चाल तो है कछुए की चाल तो है व्याकरण वाले खरगोश ठीक है तेज तो दौड़ सकते हैं लेकिन आलस्य में सो जाएंगे तो कोई चिंता नहीं हम कछुए हैं लेकिन चल रहे हैं बिना व्याकरण के और व्याकरण वाले खरगोश अगर बने हुए हैं तो किसको विजय मिलेगी कछुए को ही मिलेगी तो विजय तो है ही विजय में तो अध्यात्म में जो चल रहे हैं उनको कोई चिंता की बात ही नहीं है वो तो विजय है उनकी वहां पर देर से होगी धीरे होगी लेकिन है चल रहे हैं तो है ठीक है इतना रखते हैं